యదాదిత్యజతం తేజే జగత్తిభాషేషులం యచ్చంద్రమసి యచ్చార్ణౌ తేజే విద్యుమానసం यद गत्वा मन वर्तन है तत्म परम मना जहाँ जा करके फिर निवृत्ति नहीं होती लौटना नहीं होता वैराग्य नहीं होता खरीद नहीं होती है ये मेरा परम धाम है और इसमें एक दो बात ध्यान देने लायक है एक तो धाम का विशेषण जो परमम लगाया गया उससे ये भी निकलता है कि भगवान के दो तरह के धाम एक अपर धाम और एक परम धाम तो अपर धाम कौन सा है यहाँ कभी कभी तपस्या के बल से आराधना के बल से जोर लगा के आदमी को भेज दिया जाता है जैसे जय विजय है वो रमा बैतुल से द्वारा है वो रमा बैतुल लक्ष्मी जी ने भगवान को नया बनाया है जब अधिक अवतार हुआ भगवान का होता है रजिता अवतार में लक्ष्मी जी ने कहा कि ये अपना नया स्थान बनना चाहिए तो रमा को भागवत में उसका बना अब वहाँ जय विजय रहते हैं तो जो तो सात वहाँ से निवृत्ति हुई उनके पति में आना पड़ा मजबूर होकर के आना पड़ा और एक भगवान का जो स्थान है परम स्थान है जो विदेश और मैं स्वयं प्रकाश सर्वाधिष्ठान स्थान है जहाँ से पुनरावृत्ति नहीं होती अब ये मम शब्द का क्या अर्थ है जिसमें जो उपासना के बड़े बड़े आचार्य हैं वेद और ज्ञान के जो बड़े बड़े आचार्य होंगे मम शब्द का भिन्न भिन्न रूप से अर्थ करते हैं एक तो ऐसे लोग में जैसे कोई बुरे मानस कहे कि ये मेरा धाम है अपने मकान का नाम भी तो धाम रखते हैं धाम माने रहने की जगह जैसे चार धाम द्वारका धाम है रामेश्वर धाम है बद्रीनाथ धाम है जगन्नाथपुरी धाम है तो मनई धाम नम परम धाम इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान के रहने का गांव भगवान के रहने का महल और जो तो होता है जहाँ से लौटना नहीं होता है तो अद्भुत हुआ ना तो मन शब्द का अर्थ बड़ा विलक्षण उपासक लोगों ने किया है ये कहते हैं कि ब्रह्म जो है अक्षर ब्रह्म ये पंद्रह अध्याय में एक तो खराब ब्रह्म का निरूपण है तो खराब ब्रह्म ये जगत है और हर पुरुष और एक अक्षर पुरुष का निरूपण है जो क्या है बोले अक्षर ब्रह्म है और पुरुषोत्तम कौन है मेरे अक्षर ब्रह्म जिसका धाम है इस बात को आगे पीछे को ही मिला देते हैं ब्रह्म प्रतिष्ठा हम अमृत अध्याय वो गांव की प्रतिष्ठा किससे होती है तो गांव के मालिक को होती है जिस गांव का मालिक बहुत भले मालिक होता है उस गांव की प्रतिष्ठा बढ़ती है तो भगवान कहते हैं ब्रह्म रूप जो सन्मात्र प्रधान है वो मेरा है माने मैं उसका मालिक हूँ वो मात्र है सी तो ये मात्र है सी परंतु मोट मेरे आनंद मात्र करता बुद्धि लगा दी मैं आनंद मात्र हूँ ऐसे वो बड़ी सुंदर व्याख्या करते हैं तो उनकी युक्ति भी आपको सुनाता हूँ वो युक्ति ये कहते हैं कि जैसे पृथ्वी है तो एक पृथ्वी तो जो है जिस पर हम रह रहे हैं और एक जो पृथ्वी देवी है ये गाय बन करके भगवान से प्रार्थना करने के लिए जाती है और भगवान के सामने लक्ष्मी एक ओर और दूसरी ओर देवी बनकर भगवान के साथ रहती है तो एक तो जड़ पृथ्वी हुई एक जड़ पृथ्वी हुई जिस पर हम सब लोग रहते हैं और एक चेतन पृथ्वी हुई देवता पृथ्वी अधिकल पृथ्वी कि ये जो धरती है ये स्थान है और इसकी जो अधिष्ठात्री देवता है वो पृथ्वी देवी है अधिष्ठात्री देवता तो इसी प्रकार निराकार और देश के शून्य काल के शून्य वस्तु के शून्य तन मात्र कुल मात्र जो ब्रह्म है वो तो है धाम और उसमें जो भानु है पृथ्वी में पृथ्वी देवता के समान उसका नाम है पुरुषोत्तम भगवान जिन लोगों को अद्वैत वेदांत सुनने का बहुत संस्कार होगा तो उनके ये बात है ये बात सोचने वाली नहीं है है ना लेकिन उनके जीवन की शैली को देखो जैसे जल और जल का देवता बड़े अच्छा एक अग्नि है और एक वो अग्नि है जो चंद्र करने का हाथ में पायक ले करके अग्नि देवता प्रकट होते हैं दशरथ जी को कह रहे ये पायक लो और अपनी पत्नियों को खिलाओ तो प्रचलित होने वाली अग्नि में और हाथ में पायक लेकर प्रकट होने वाली अग्नि में फर्क है कि नहीं है तो एक अग्नि शास्त्र है पंचपीठ के अंतर्गत और एक उसका देवता है अधिदैव इसी प्रकार समझो एक वायु देवता वो है जो व्यक्त को पूछने के लिए गए थे कि तुम कौन हो ये वो परिसर में जल्दी कथा है एक अग्नि देवता वो है जो वक्त को पूछने के लिए गए थे कि तुम कौन हो और एक अग्नि देवता वो है जो प्रज्वलित होते हैं और जिनमें रसोई बनती है और एक वायु देवता वो है जिनमें हम सांस लेते हैं वायु रहो तो ये वायु धाम है और वायु देवता उसका अधिक पात्र देवता है ये अग्नि धाम है और अग्नि देवता उसका अधिक पात्र देवता है इसी प्रकार जो निराकार व्यापक ब्रह्म है वो तो धाम है और सब धाम परम मना जिसका वो धाम है वो कौन है तो वही अर्जुन को दे रहा है रख कर बैठ करके कि ये ब्रह्म मेरा धाम उपासना के ग्रंथों में श्री कृष्ण के ज्ञान की जो पद्धति आती है बड़ी अद्भुत है बड़ा वो कहते हैं ब्रह्म रूप धाम का पहले चिंतन करो जहाँ मिट्टी भी ब्रह्म लता भी ब्रह्म वृक्ष भी ब्रह्म पशु भी ब्रह्म पक्षी भी ब्रह्म घास भी ब्रह्म नदी भी ब्रह्म पहाड़ भी ब्रह्म सब तन मात्र चिन्ह मात्र ब्रह्मात्मक धाम का चिंतन करो आप कभी कायदे के साधना जी को ब्रह्म संहिता में शरद कुमार संहिता में ये जो पंचराष्ट्र की संहिताएं हैं इनमें जो परमात्मा के धाम का वर्णन है जहाँ सारे वृक्ष ही कल्प वृक्ष है जहाँ सारे पशु ही काम धोनी है जहाँ पत्थर कंकर पत्थर छोटे छोटे सब के सब चिंतामणि है चिंतामणि प्रकर पद्म विकल्प वृक्षी वो ब्रह्म संहिता में वृंदावन धाम का जो वर्णन है उसमें कहते हैं एक एक शंकर एक एक शंकर शंकर एक एक चिंतामणि है चिंतामणि की भूमि है जल के वृक्ष का बगीचा तो है और काम धेनु के झुंड के झुंड है और सब प्राकृत नाम से रहित प्राकृत रूप से रहित प्राकृत गुण से रहित प्राकृत स्वभाव से रहित सब का सब दिव्य चिन्मय अरे संसार को ज्ञान कहाँ चला जाता है जो ध्यान करने जाते हैं संसार तो चला जाता है ये केवल ब्रह्म का वर्णन है ठीक है एक केवल ब्रह्म होता है एक केवल ब्रह्म होता है विश्व पुराण में इसका विभाग किया हुआ है विकास के ब्रह्म को वेद ब्रह्म कहते हैं आप फिर उस ब्रह्मात्मक स्थान में मुंड मनोहर दीवान मेधारी ज्ञान सुंदर कल्प वृक्ष के नीचे चिंतामणि की देविका के ऊपर कल्प वृक्ष के नीचे गाय पीछे और उनकी ओर आंख करके बड़े प्यार को देख रही उनको चाटने की कोशिश कर रही और सीता अंदर हो रहे एक रंग रंग गाय को खड़े होकर के और थोड़ा तेरा फिर तेरा और दांत की लकड़ों से लगा करके हमें समय संगीत का ध्यान कर रहे हैं बोले ये धाम साथ मामा और भावा परम माना जैसे निरुक्त में जैसे निरुक्त में कर्मकांड संबंधी निरूपण करते हुए अभ्यास में अभिदय और अभिभूत तीन भेद करके वर्णन करते हैं तो ऐसे भक्त लोग जो है वो ब्रह्म को सत्य रूप से वर्णन करते हैं सत्यात्मक धाम और कृष्ण का वर्णन करते हैं धामी के रूप से अभिषय है कृष्ण और सत्य है अभिजीत है वो यहाँ ब्रह्म और अध्यात्म है भक्त भक्त का जो हृदय है वो अध्यात्म है जो यहाँ कृष्ण से प्रेम करता है वही ब्रह्मात्मक है भक्त भी ब्रह्मात्मक है धाम भी ब्रह्मात्मक है भगवान भी ब्रह्मात्मक है परंतु स्वदंश की प्रधानता से ब्रह्म स्वदंश की प्रधानता से अध्यात्म और आनंदांश की प्रधानता से अधिदैव एक ही ब्रह्म शुद्ध रूप से प्रकट होकर के भक्त के साथ चौथी है है ब्रह्म केवल निर्विशेष निर्भर निर्विकार ही नहीं होता सविशेष ही ब्रह्म है और इस गलत अवस्था में सविशेषता नहीं हो तो आखिर हो जाए अब अद्वैत वेदांति इसका ये बोलते हैं उनकी बात भी सुना देते हैं आपको एक पद हो जाएगा अब तुम कभी हमको ये पूछो कि तुमको क्या इष्ट है तो ये भी बताने लगे ना अद्वैतवादी इस पर ये कहते हैं कि जहाँ सत्ता माने जड़ होता है वहाँ पे अधिष्ठात्र देवता रूप अभिनय की आवश्यकता होती है लेकिन जहाँ कल मात्र वस्तु चित्त होती है वहाँ जिन मात्र व्यक्ति के अधिष्ठात्र देवता की जरूरत नहीं होती है जहाँ जहाँ प्रेत सूत्रों में कल्प सूत्रों में या धर्म सूत्रों में छात्र देवता का वर्णन है यहाँ अध्यात्म का अधिष्ठात्र देवता होता है अभिभूत का अधिष्ठात्र देवता होता है लेकिन अध्यात्म अभिभूत और अध्यात्म के भेद से रहित जो अद्वितीय निर्विकार ब्रह्म है उसमें अधिष्ठात्र देवता का प्रसंग कहाँ से आया तो सर्वाधिष्ठान तो ब्रह्म ही है स्वयं प्रकाश ब्रह्म ही है उसमें कोई दूसरा अधिष्ठात्र देवता अधिष्ठात्र देवता नहीं है पुरुषोत्तम भी वही है वही ब्रह्म पुरुषोत्तम है उसके सिवाय दूसरा कोई पुरुषोत्तम नहीं है मेरे भाई अब केवल निर्विशेष निर्विकार निर्धर्म प्रत्यक्ष चैतन्या ब्रह्म ब्रह्म सत्ता सुखता और आनंदता का भेद नहीं है ये वस्तु सच्ची है कि ये जो धाम और धामी के भेद वाली वस्तु है ये सच्ची है ना सत्य वचन न सत्य वचन सत्य ना सत्य वचनम होता सत्य कर देने का नाम ही सत्य नहीं है और झूठ देने का नाम ही झूठ नहीं है बोला न सत्य वचनम सत्यम न असत्य वचनम मृदा यद जथा देश निर्मिताम तब तथा तम प्रतिष्ठितम देखने को यह है कि तुम्हारी बुद्धि कहाँ तक होगी और तुमने निर्णय कहाँ तक किया अपने अपने अधिकार के अनुसार अपने अपने अधिकार के अनुसार पहुंच देती है और अपने अपने अधिकार के अनुसार निर्णय होता है तो अब संधि वही निष्पत्ति क्या करे समम पत्व बिंदी उनका द्वैत विभाग तो अरे बाला कोई लोग जो है वो द्वैत में आग्रह रखते हैं साधन बता में द्वैत में आग्रह रखना ठीक है और कोई अद्वैत में आग्रह रखते हैं तो भाई साधन दशा में अद्वैत में आग्रह रखना भी ठीक है और सिद्ध दशा में बोले न द्वेष का आग्रह है न द्वेष का आग्रह है किसी ने कहा द्वेष है बोले ठीक है उनको तुमको एक मालूम करता है कहा मालूम करता है बैठते तो किसी ने कहा कि द्वेष है कहा बैठते दुनिया बाबा जी महाराज कहते थे कि द्वैत दादी कभी नहीं बनना लेकिन अब द्वैत दादी भी कभी नहीं बनना बोला दादी नहीं बनना अब द्वैत वस्तु है अब द्वैत वाद नहीं है अद्वैत वस्तु है अद्वैत दाग नहीं है ये दाग विवाद को संस्थाई लोग करते हैं कि ऐसे चलो और ऐसे न चलो वो तो साधक को रास्ते में मदद करने के लिए द्वैतवाद भी है अद्वैतवाद भी है जो मूल वस्तु है महाराज न तो ये तो भाषा है और अद्वैत भी एक भाषा है द्वैत भी एक भाषा है द्वैत भी एक प्रक्रिया है और अद्वैत भी एक प्रक्रिया है मूल जो वस्तु है उसमें तो द्वैता द्वैत की जब नहीं है वो द्वैत कहो द्वैत कहो तो द्वैत है ही नहीं अब द्वैत कहो तो कहते क्या हो अद्वैत कहो तो कहते क्या हो तो जो पहुंचे हुए लोग होते हैं उनके मन में कोई अद्वैत का कोई राज भेद कोई साधन कोई स्वास्थ्य भाव कोई साधन का विभाव नहीं होता है तो इसलिए जैसे मनुष्य का अंतकरण उन्नत हो गए तुम्हारे वर्तमान स्थिति में कौन सी मान्यता तुमको ऊपर ले चलती है तुम द्वैत मान करके साधना कर सकते हो या द्वैत मान करके तो यदि देश मान करके साधना करो तो वही थी और अद्वैत मान करके साधना करो तो भी थी इस साधना करके अपने हृदय को नीचे रास्ते पर लेके चलो वही द्वैत अद्वैत का झगड़ा करके मौसम मत निकालना था राग देश पर बैठोगे द्वैत अद्वैत का झगड़ा करके तो हो इसलिए झगड़ा नहीं रोकना हो ये कोई पंथ की बात नहीं है इस पर तो कोई सूरमा कोई बहादुर पहुंचता है इस सत्य पर अब जैसे ममा से श्लोक समाप्त हो गया और ममा से अगला श्लोक प्रारंभ हुआ एक विचित्र बंध उपस्थित कर दिया सत्मा परम ममैराम तो जीवलोके जीवभूत सनातना मनस्थानी प्रकृति सके अब जीव का वर्णन सकते हैं तो वो कौन सा जीव है जो परमात्मा के स्थान में जा करके लौटता नहीं उस जीव का क्या स्वरूप है एक प्रश्न हुआ तो अब जीव का स्वरूप छिपाने के लिए अगला श्लोक प्रारंभ करते हैं तो ये जीव कौन है इसका पुनर्जन्म में आना जाना क्या है पुनर्जन्म हो एक तो बचने का उपाय भी हो तो मेरा किसी का पुनर्जन्म नहीं होता किसी को मौत नहीं होता किसी को स्वर्ग नहीं होता बाद बहुत टुकड़ा दे धीरे धीरे पूछकर झगड़ा दे बाद स्पीकर से घोषणा कर दे कि जन्म किसी का नहीं होता बंधन किसी को नहीं है नरक स्वर्ग किसी को नहीं है इसका मतलब क्या होगा इसका मतलब ये होगा कि कोई दुकान सुनने मत जाना कोई जरूरत नहीं है ये लोग अगर गांव में बॉडी ठीक से पैसा भाग से लाइट ठीक करके साफ से ये बात कह दी जाए कि देखो नरक स्वर्ग नहीं है और पुनर्जन्म नहीं है और बंधन शक्ति नहीं है इसकी कोई जरूरत है ही नहीं है बिल्कुल इसका नतीजा क्या है नतीजा यह है कि वेदांत सुनना बिल्कुल बेकार है जाना ही मत वेदांत सुनने के लिए अरे बाबा बंधन हो गए तो उसको छुड़ाने के लिए मुक्ति की जरूरत हो गए कोई अज्ञान हो गए तो उसकी निवृत्ति के लिए ज्ञान की जरूरत हो गए कोई मूर्ख हो गए तो ज्ञान के पास जाकर के पूछे जब लोग अपने अज्ञान को ही नहीं समझेंगे अपने अभ्यास को ही नहीं समझेंगे अपने बंधन को ही नहीं समझेंगे तो श्रोतव्य मंतव्य विधि भी क्या होगा वो खाद होगा सारे वेदांत का सत्या लाके जाएगा अगर पहले पुनर्जन्म की और बंधन की और अभ्यास की स्थापना न हो गई है इसलिए वेदांत से यहाँ से शुरू होता है कि हाँ हमको बंधन की अनुभूति होती है तो जो बद्ध कौन है जिस बद्ध को हम मुक्त करने के लिए श्रवण मोहनादि से प्रयत्न किए जाए वो कौन पुनरावर्तन बर्तन के चक्कर में पड़ा हुआ है जो जो परमात्मा के धाम में पहुंचने के बाद पुनर्जन्म के चक्कर में नहीं पड़ता वो क्या है अब इसी को समझाने के लिए भगवान कहते हैं मई राम के जीवने जीवभूत सनातन कई लोग गलत वेदांत का प्रचार करते हैं बिना बिना बंधन के बिना बंधन के समझी कि ग्रंथि क्या है और कह दिया कि बंधन मुक्ति दोनों आई है अब बंधन को छुड़ाने के लिए चरण मदन होगा नहीं भक्ति होगी नहीं अंतकरण के लिए होगा नहीं कोई साधन बदन होगा नहीं यही सामरता यही विषयितना वही विषयभेद यही शंका बोले जन्म मरण तो नहीं है मरक स्वर्ग तो नहीं है बोले दुकान तो है ना पैसा कमाना तो है ना है ना भोग विलास तो है ना बोले भाई मैं स्वर से छूट गया कहता हुआ मेरे स्वर से छूट गया लेकिन मजकल गारम को नहीं छूटा था उनको पकड़े हो एक दिन एक घर गए थे तो उन्होंने उपदेश किया उन्होंने किया कि भरत स्वयं को बिल्कुल है और जन्म तो एकदम होता नहीं मैंने कहा हाँ ये सब तो झूठे हैं तो सच्चा है तो एक नोटे का धंधा नहीं सच्चा है और कुछ सच्चा नहीं है कृष्ण में तो ये ज्ञान जो है यही दुरोचन वाला ज्ञान है ये पुरोतन के संप्रदाय का ज्ञान है मैंने कई के संप्रदाय का ज्ञान यही है कि एक गुलाब भी बना रहे एक स्त्री की जगह दो स्त्री भरे रख लो है ना और आप पैसा जो है ईमानदारी से नहीं बेईमानी से भरे इकट्ठा करके रखे बोले ये सब तो सच्चे है हमारा और बोले नरक को तो तो झूठे तो पुनर्जन्म तो झूठा है तो देखो तो इसी का नाम से अटूट भाव है बोला तो वेदांत का गलत कभी नहीं निकालना पहले बंधन को भी समझना जरूरी है वो बंधन क्या है तो मुंबई राम के जीवनों के जीव भूत सनातना मन पर भगवान बड़ी ममता के बोलते हैं मनई अंश जीवनों के जीव भूत सनातना इस है ना संसार में जीव जिस ढंग से रह रहा है जिससे मालूम होता है कि इसका कोई मालिक नहीं है अनाज है चाहे जो खा ले चाहे जो पी ले चाहे जहाँ सो जाए चाहे जो बोल दे क्या है ये तो ये तो देखे राह चलते जिस मन में खाना बहुत लोग होते हैं वही तो स्थिति हो रही है चाहे जिसकी मुहब्बत में तक ले और उसके पीछे पीछे घूम रहे हैं चाहे जो खा लिया जगत भी थी थी सबके साथ खाना सबके साथ पीना सब कुछ खाना सब कुछ पीना तो बोले भाई तो ये ये बच्चा को नहीं खाते हैं तो इसलिए नहीं खाते हैं कि गले के नीचे नहीं उतरता मैं अगर गले के नीचे उतरता हो तो ये पत्थर भी खाने को तैयार नमक का भी साग बना के खाते हो नमक का बात होता है ना बात बात की लकड़ी का मुरक्का बना के खाते हैं अगर खाने की कोई पैसी निकल जाए तो ये कुछ न छोड़े अनाज को सड़ा सड़ा के खाते हैं फल को सड़ा सड़ा के पीते हैं ये सलाद खाना सलाद पीना बराबर तो है ना चढ़ाए चढ़ाए के खाना जैसे कीड़े जो है ये जब मनुष्य का शरीर सड़ने लगता है चाहे मांस सड़ने लगता है तो उसको खाना देते पसंद करते हैं वो अवस्था मनुष्य की है कि जो चढ़ा चढ़ा करके खाना पसंद करते हैं ऐसा मालूम पड़ता है जैसे उनकी देख रेख करने वाला कोई नहीं उनका मालिक कोई नहीं बिल्कुल अनाथ अलग शक्ति इधर से इधर घूम रहे वो भगवान कितनी ममता से कहते हैं इन जीवों के लिए भी बोलते हैं ममई अंशा अरे भाई ये मेरे वंश है देखो ना कृपा भगवान की ममई अंश जीव मेरे भगवान इतने बोल रहे तो मेरे ये बोल रहे तो मेरे मेरे देखो तुमको मेरे कहने वाला कौन है जो सारी पृथ्वी का मालिक है वो तुमको कह रहा है तुम मेरे अंश हो जैसे बाप अपने बेटे से कहे कि तुम मेरे अंश हो ऐसे भगवान बोलते हैं तुम मेरे अंश हो संबंध जोड़ो भगवान के साथ संबंध जोड़ो और एक और जोड़ दिया हो एक का मतलब मेरे ही अंश हो किसी दूसरे के नहीं तुम अपने बाप के बेटे नहीं हो मेरे बेटे हो तुम राजा की प्रजा नहीं हो मेरी प्रजा हो तुम दूसरे के मित्र नहीं हो मेरे मित्र हो एक आर्थिका ही मेरे ही अंश हो न तो पंचभूत आदि नाम तुम पंचभूत आदि के अंश नहीं हो न तो प्रकृति तुम प्रकृति के अंश नहीं हो तुम शून्य के अंश नहीं हो तुम चित्त के अंश नहीं हो तुम मेरे अंश हो देखो ना संबंध जड़ता से जो तुम्हारा संबंध है जुड़ा हुआ है बच्चे को पूछो तुम कितने तो बोलेगा अपनी माँ के अपने बाप के अपनी नानी के अपने मित्र के अपने पति के ऐसे बोलता है ना भगवान कहते नहीं नहीं तुमने गलत सीख लिया बचपन में बिना पहले देखे इस समय तुमने कुछ पढ़ा लिखा तो कहा नहीं अगर बुद्धि तुम्हारे पास थी नहीं लोगों ने दूसरे ही तुमको सिखा दिया कि तुम मेरे लाला और तुम मेरे लाली दूसरे ही सिखाया लोगों ने ममई अंश तुमको देखा मेरे ममई अंश मेरे अंश ये ममई अंश अब देखो इसे सही बात बहुत ही बढ़िया है भगवान के बारे में जितना जितना समझते जाओगे उतनी उतनी उनकी ममता समझ में आती जाएगी और भगवान के बारे में जितनी कम समझ होगी उतनी ही उतनी उनकी ममता को तुम कम समझोगे अब देखो एक नमूने को ले गए जात वेदांत से परमात्मा जो होता है वो देश में कटा पिता नहीं होता है देश माने पूरा पश्चिम उत्तर पश्चिम ईश्वर नीचे जो कुछ है इसमें ये सब देख नहीं होगा नहीं होगा तो अंत कैसा होगा अगर आकाश का अंत होता तो कैसा होता और धरती का अंत होता तो कैसा होता ये देखो ये बात समझिए तब आएगी जैसे देखो काल है स्वयं काल तीन काल का एक अंत है कि नहीं काल कम है कि हे मनुष्य ये तुम्हारा जो दिन है मास है वर्ष है ये मेरा अंश है ठीक है ना साल के अंश है वर्ष मास वक्त दिन घंटे मिनट और एक सेकेंड का करोड़वा हिस्सा जिसको वैज्ञानिक लोग निकाल लेते हैं साथ गणित गणित उसको तो नहीं जाने के लिए सब जो प्रक्रिया होती है ना जो और इस प्रक्रिया का ज्ञान नहीं है जबकि उसके हिसाब से ना निकाला जा सके लेकिन काल में अंश कैसे होता है काल में स्वतः अंश नहीं होता है उपाधि से अंश होता है सूर्य और पृथ्वी दोनों जब चल रहे हैं पृथ्वी चल रही है सूर्य स्थिर है और पृथ्वी को लेकर सूर्य चल रहा है और ध्रुव स्थिर है चंद्रमा को लेकर पृथ्वी चल रही है और सूर्य स्थिर है मतलब क्या हुआ मतलब ये हुआ कि जब उपाधि है माने जब विषय की उपाधि होती है और उसमें परिणाम होता है चीज बदलती है दिन और रात दिन और रात होते हैं तो काल में हम अंक बना लेते हैं काल का एक अंक रात है और काल का एक अंक दिन है देखो सूर्य और धरती दोनों नहीं हो तो काल में दिन और रात शांत बनाने वाला कौन होगा कोई नहीं होगा तो काल में जो परिच्छिन्नता है और उपाधि है और उपाधि को माने पृथ्वी और सूर्य की उपाधि से ही काल में ये वर्ष मास तथ्य का अध्यारोप किया गया जब कुटुक काल में न वर्ष है न माप है न पक्ष है न दिन है न रात है काल में नहीं है अच्छा जब यहाँ देखेगा तो हमारे गाँव जो है वो पश्चिम हो गया और जो दानवे है वो पूरब हो गया जो सामने है वो उत्तर हो गया जो ऊपर है वो ऊपर है जो नीचे है वो नीचे लेकिन ये क्या देश में वास्तविक है छत पर बैठेंगे तो हमारा सिर नीचे हो जाएगा और सिंहासन पर बैठेंगे तो हमारा सिर ऊपर हो रहा है तो ये उनका